मैंने अर्ज किया था कि आज जादूगर आए जादू वो जो सर चढ़ के बोले पहले आपके समक्ष इन्होंने योग प्रस्तुत किया उसके बाद कबीर जी का कैशी जी सुर को प्रमाण जान मैं अर्ज करूंगा इनको महान जान और सुर की इनको महान जान सुर की ही शान जान और प्रभु की ही तान जान और सच तो ये है कि गंडेजा ब्रदर्स ने हमारी जान निकाल ली <laughs> और सतगुरु जगजीत सिंह जी महाराज के चौरासी में शुभ अवसर पर उनके शुभ दिन पर आ, हमारे लिए ये बहुत ही खुशी का मकाम है कि आज हम इस दिन को इतने बड़े महान कलाकारों की गायकी के साथ मना रहे हैं जाहिर है जिन कंठों से ये आवाज़ें निकली हैं मेरे मुझे तो लगता है कि दुआएं निकली हैं सतगुरु जी जगजीत सिंह महाराज जैसे हमारे वेद में मानते हैं कि शत शत जिये सौ वर्ष तक जीने का हर को अधिकार है मैं तो चाहूंगा कि उनका आशीर्वाद सदियों तक बना रहे क्योंकि ऐसा हम मानते हैं कि पुण्य आत्माएं बार बार आती हैं और ऐसे महान कलाकार हमारे बीच बार बार आते रहे हम इनको सुनते रहें मैं समझता हूँ कि इससे लोग सुनने वाले भी सुरीले हो जाते हैं <laughs> जीवन में जीवन में सुर आ जाए तो बस बहुत बड़ी बात है क्या बात और महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है हाँ। कि लोगों को सुरीला बनाने में और उनका शास्त्रीय संगीत में इतना बड़ा योगदान है हिंदुस्तान में कि उन्होंने कलाकारों के पास शिष्यों को भेज करके और उस परंपरा को आगे बढ़वाया है और लोग तैयार किए हैं और मैं सोचता हूँ कि ये इतना बड़ा योगदान हिंदुस्तान में और किसी का नहीं है तो ये सदगुरु जी महाराज की ये देन है संगीत को भी कि ये परंपरा आगे उनके कारण बढ़ रही है और बड़े बड़े कलाकार जो हैं वो अपने शिष्यों को इस, इस अपने फन में सिखा रहे हैं तो ये गुरु जी की कृपा है हम सब पर आप पर भी और हम पर भी और ये बनी रहे ये ईश्वर से प्रार्थना है आप सब की ओर से इनके लिए मंगल कामना है कि संगीत की ये नदियां हमेशा बहती रहें ये त्रिवेणी हमेशा बहती रहे परमात्मा आपको बहुत ही दीर्घायु दे ताकि हम लोग सुनते रहें और इस लिहाज से हम भी जीते रहें ज़्यादा ज़िंदगी आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद साहब धन्यवाद